स्मरण प्रणवध्वनि ओ ईश्वर प्रेमी सज्जनों परमात्मा को हम विभिन्न शब्दों से संबोधित करते रहते हैं कुछ संबोधन ऐसे होते हैं जो हमारी परमात्मा से कामना प्रार्थना के अनुरूप होते हैं हमें आनंद चाहिए सुख चाहिए तो हम परमात्मा को आनंद स्वरूप कहते हैं हमें रक्षा चाहिए तो परमात्मा को रक्षक कहते हैं महर्षि दयानंद ने आर्याभिविनय के प्रथम प्रकाश में प्रथम मंत्र की व्याख्या के प्रारंभ में जो बहुत से संबोधन परमात्मा को दिए हैं किए हैं उनमें सब प्रार्थना से संबंधित नहीं है सीधे सीधे वो हमारी कामना और प्रार्थना से जुड़े हुए नहीं है बहुत से गुण बहुत से संबोधन परमात्मा के स्वरूप को बताने के लिए ऐसे संबोधन ऐसे विशेषण देने की क्या आवश्यकता होती है जिस धर्म गुण से संबंधित हमारा काम है हम केवल उसी को क्यों न बोलें किसी को अन्न की आवश्यकता है तो अन्नदाता को अन्नदाता के नाम से हम बोलें हे अन्न के स्वामी हे अन्न को देने वाले हे दयालु बाकी कहने की क्या आवश्यकता है आप इतने लंबे चौड़े हैं इस रंग रूप वाले हैं वहां कहने की आवश्यकता नहीं रहती है यदि लोक में हम इन चीजों को देखें भी स्वरूप के गुण वर्णन को तो दूसरे को अपने अनुकूल बनाने के लिए हम ऐसी स्तुति करते हैं हमें उस व्यक्ति से कुछ चाहिए को सहयोग चाहिए रक्षा अन्न ज्ञान तो जब हम उसके अन्य गुणों का भी वर्णन करते हैं तो वो हमारे अनुकूल होता है प्रशंसा को सुन के और हम फिर बाद में उस प्रार्थना को भी करते हैं जो हमें उससे चाहिए लेकिन परमात्मा के साथ ये भी नहीं घटता है क्योंकि परमात्मा का स्वरूप अन्य कुछ बताने पर भी परमात्मा केवल उस प्रशंसा को सुन करके स्वरूप को सुन करके हमारे प्रति विशेष कृपा करेगा ऐसा नहीं लेकिन फिर भी बहुत सारे संबोधन ऐसे किए जाते हैं जो परमात्मा के स्वरूप को बताने वाले होते हैं सामान्य धार्मिक व्यक्ति ईश्वर भक्त बस उन्हीं संबोधनों तक सीमित रहता है जो उसकी कामना से युक्त होते हैं जुड़े होते हैं पर महर्षि दयानंद ने और बहुत सारे संबोधन दिए उनका अपना प्रयोजन है परमात्मा के स्वरूप को उस प्रकार का यदि हम न माने तो परमात्मा का अस्तित्व मानने में भी हमारे को कठिनाई होगी और यदि परमात्मा का अस्तित्व ही हम नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं तो उससे जो अन्य प्रार्थनाएं की जाती हैं उसको स्मरण करके जो लाभ उठाए जाते हैं उसके स्वरूप को मन में रख करके इस मार्ग पर आध्यात्मिक मार्ग पर चला जाता है वो नहीं हो पाता तो महर्षि ने जो संबोधन दिए हैं उसमें आज का संबोधन जिस पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं वो है अज महर्षि लिखते हैं हे अज अज का मतलब है जो उत्पन्न नहीं होता हे न उत्पन्न होने वाले अ अर्थात निषेध में और ज मतलब जो जन्म लेता है उत्पन्न होता है परमात्मा उत्पन्न होता हो या ना होता हो लेकिन यदि वो अभी है सृष्टि को चला रहा है हमें बहुत कुछ दे रहा है तो भी हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं उससे लाभ उठा सकते हैं जब तक वो है जैसे कि कोई राजा धनवान विद्वान बलवान ये सब उत्पन्न होते हैं शरीर को धारण करते हैं लेकिन फिर भी हम उनसे प्रार्थना भी कर लेते हैं स्तुति भी कर लेते हैं हमारा जीवन जब तक है अथवा उनका जीवन जब तक है तब तक हमारा परस्पर व्यवहार चलता है चल सकता है वो हमारे से पहले समाप्त हो गए तो व्यवहार समाप्त हो जाएगा अन्यों से करेंगे हम पहले समाप्त हो गए तो व्यवहार समाप्त हो जाएगा भले ही वो रहे अर्थात किसी से व्यवहार होने में उसका उत्पन्न होना होने वाला होना या न होने वाला होना मोटे तौर पे कोई अंतर नहीं देता लेकिन परमात्मा तो बना है बना हुआ है क्योंकि सृष्टि चल रही है यदि हम ऐसा मान लें तो भी हमें कोई परेशानी नहीं क्योंकि जब से हमने जन्म लिया तब से हम उसको मानेंगे वो है और जब तक हमारा शरीर है तब तक भी वो है क्योंकि सृष्टि चल रही है इसलिए परमात्मा भी है ये हम स्वीकार कर लेंगे तो परमात्मा को अज के रूप में देखने की आवश्यकता ही क्या है अज शब्द का अर्थ उत्पन्न न होने वाला इसको दो संदर्भों में हम देख सकते हैं एक स्थूल अर्थ है कि वो जन्म नहीं लेता अर्थात शरीर धारण नहीं करता जैसे हम शरीर धारण करते हैं ऐसे वो शरीर धारण नहीं करता जैसे कि भगवान परमात्मा के बारे में बहुत लोगों की अवतार लेने की मान्यता है अवधारणा है कि परमात्मा शरीर को धारण करता है संसार में धर्म की स्थापना के लिए अधर्म के नाश के लिए दुष्टों के नाश के लिए वो परमात्मा को अजय नहीं मानते जन्म लेने वाला मानते अवतार लेता है परमात्मा अज का एक अर्थ है कि परमात्मा शरीर धारण नहीं करता एक स्थूल अर्थ हुआ और दूसरा अज का अर्थ है कि वो उत्पन्न ही नहीं होता शरीर धारण ना करते हुए भी परमात्मा कभी उत्पन्न हुआ कभी ना कभी उत्पन्न हुआ ये भाव जो मन में रहता है उसके लिए कि परमात्मा अज है वो कभी उत्पन्न ही नहीं होता उत्पन्न नहीं होता का के साथ जुड़ा हुआ है कि वो कभी नष्ट भी नहीं होता क्योंकि जो भी उत्पन्न होता है वो नष्ट भी होता है और इसका और तात्पर्य निकलेगा कि परमात्मा नित्य है यदि कोई परमात्मा को अज नहीं मानता तो वो परमात्मा को नित्य भी नहीं मान सकता एक तरफ वो परमात्मा को नित्य कहे दूसरी तरफ जन्म लेने वाला कहे तो ये परस्पर विपरीत विरुद्ध बात है यदि कोई मानता भी है तो ये असंगत है तो अजय के दो अर्थ एक तो शरीर धारण नहीं करता और दूसरा उसकी उत्पत्ति ही नहीं होती तो परमात्मा उत्पन्न नहीं होता ये हमें संबोधन करने की क्या आवश्यकता है ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि संबोधन करते हुए हम परमात्मा के स्वरूप को भावना को बनाते हैं और वो हमारे लिए आवश्यक है जब कोई व्यक्ति अध्यात्म या धर्म के निकट आता है और वहां ईश्वर और परमात्मा की बात आती है तो उसके मन में सहज प्रश्न होता है कि परमात्मा है या नहीं है क्योंकि इंद्रियों से वो दिखाई नहीं देता उसकी सीधी कोई उपयोगिता जीवन में दिखाई नहीं देती तो सच प्रश्न करता ईश्वर को हम क्यों माने तो उनको यह समझाया जाता है कि ये संसार जो बना है इतना व्यवस्थित योजनाबद्ध अति सूक्ष्म इसको बनाने वाला कोई ना कोई अवश्य होना चाहिए और इस पे चर्चा चलते चलते प्राय व्यक्ति स्वीकार करता है नहीं कोई बनाने वाला होना चाहिए लेकिन जिज्ञासु के मन में अगले ही क्षण एक प्रश्न खड़ा होता है जो कि उसको बताया गया कि देखो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं ये बनी हैं तो इनके बनाने वाला भी कोई है ये नष्ट होने वाली हैं तो वो जिन जिन वस्तुओं के संपर्क में अभी तक आया है जड़ या चेतन प्राणी या अप्राणी उन सबको बनाने वाला परमात्मा को कहा जाता है वो जिनके भी संपर्क में आया है सब बनने वाली है उत्पन्न होने वाली है उसको कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं देती जो उत्पन्न न हुई हो हर चीज तो उत्पन्न हो रही है हर चीज तो बनी है तो जब उसको ये कहा जाता है कि संसार को बनाने वाला कोई है तो संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सब बनी हैं उसके मन में एक संबंध बन जाता है जो जो वस्तु है वह वह बनी है क्योंकि उसका प्रत्यक्ष उसका अनुमान वहीं तक सीमित है उसे कोई ऐसी वस्तु नहीं दिखाई देती जो हो लेकिन बनी ना हो तो प्राय जिज्ञासु के मन में ये प्रश्न तत्काल आता है वो एकदम प्रति प्रश्न करता है जब उसको कहें कि इसको बनाने वाला कोई तो हो जो बनाने वाला है वही परमात्मा है तो पूछता है फिर कि छप परमात्मा को किसने बनाया है आप कह रहे हो हर चीज को कोई बनाने वाला है तो परमात्मा को किसने बनाया अब उत्तरदाता जब ये कहता है कि परमात्मा को किसी ने नहीं बनाया वो तो सदा से है तो उस नए व्यक्ति के मन में सहजता से ये स्वीकार्य नहीं होता क्योंकि वो इस धरातल से चला था कि जो जो चीजें बनी हैं जो जो चीजें हैं वो बनी हैं उनका कोई बनाने वाला है तो परमात्मा भी है तो उसका भी बनाने वाला होना चाहिए उसको सहज स्वीकार्य नहीं होता लेकिन परमात्मा को अनुत्पन्न अज मानना बहुत अनिवार्य है उनसे और जब चर्चा की जाती है तो उनको बोलते हैं कि यदि हम ये माने कि परमात्मा का भी कोई बनाने वाला होगा बोले तो प्रश्न तो फिर भी रहेगा जिसने परमात्मा को बनाया उसको कौन बनाने वाला है और उसको भी फिर कोई ना कोई बनाने वाला होगा क्योंकि हम ये लेके चल रहे जो जो वस्तु है उसको कोई ना कोई बनाने वाला होगा जो जो वस्तु है वो बनी है तो उसको बनाने वाला भी कोई है तो ये श्रृंखला कहां जाके रुकेगी ईश्वर को बनाने वाला भी कोई मान भी लिया तो क्या वहां जाके रुक जाएगी ये बात प्रश्न वहां समाप्त हो जाएगा प्रश्न तो फिर भी चलता रहेगा और वहां फिर अनवस्था दोष आएगा यदि हम ये माने कि हर वस्तु का कोई ना कोई बनाने वाला है जो भी वस्तु है वो उत्पन्न हुई है तो एक बड़ा प्रश्न मस्तिष्क में रह जाता है अनवस्था दोष का तो इसका कोई समाधान ही नहीं है और ये भी बड़ी अयुक्त युक्त बात हो जाती है तो परमात्मा भी बना है परमात्मा भी उत्पन्न हुआ है इसको मानने के लिए यदि पीछे जाए तो अनवस्था में जाके फंस जाता है कोई उत्तर नहीं है लेकिन वो उत्तर का प्रयास करता है कहता है कि ठीक है यदि आप परमात्मा को मान लें कि वो अपने आप है उसको कोई बनाने वाला नहीं है तो दूसरे पक्ष में उसके मन में आता है तो जैसे परमात्मा को कोई बनाने वाला नहीं है परमात्मा उत्पन्न नहीं होता है ऐसा आप लोग मानते हो तो ये मानने में क्या दिक्कत है कि संसार भी ऐसे ही बना हुआ है उसको भी कोई बनाने वाला नहीं है क्योंकि आप कहीं तो जाकर के रुक रहे हो कि इसको कोई बनाने वाला नहीं है इस संसार को भी कोई बनाने वाला नहीं है या तो ये मानो तो परमात्मा को यदि जन्म लेने वाला मानते हैं तो ऐसा कोई परमात्मा स्थिर हो ही नहीं सकता और यदि परमात्मा किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं है विद्यमान है तो उसके मन में प्रश्न आ जाता है कि फिर ये जो कार्य जगत है ये भी ऐसे ही होगा लेकिन तब भी व्यवस्था नहीं होती क्योंकि हम संसार में देखते हैं हम भी बहुत सी चीजों को बनाते हैं जो अनेक अवयवों से मिलके बनी हैं वो बनाई जाती हैं वो बनती हैं वो उत्पन्न होती हैं इस प्रत्यक्ष को कोई निषेध नहीं कर सकता इसलिए किसी को तो हमें मानना होगा परमात्मा को यदि जन्म लेने वाला माने तो ऐसे परमात्मा को मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ऐसे परमात्मा को मानना न मानने के बराबर है क्योंकि परमात्मा तो हम उसको देख रहे हैं जिसने इस सबको बनाया है जो आदि कारण है जो सबका उत्पन्न करने वाला है जिसको खुद को दूसरे ने बनाया है तो वो सर्वप्रमुख सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम नहीं हो सकता हम उसके प्रति अंतिम रूप से समर्पित नहीं हो सकते जिसको किसी और ने बनाया है क्योंकि जिसने उस परमात्मा को बनाया है वो परमात्मा से अधिक शक्तिशाली होगा वो परमात्मा से अधिक अधिकार वाला होगा क्योंकि बनाने वाला बड़ा होता है तो बनने वाले परमात्मा को मान करके भी करेंगे क्या हम हमें जो पूर्ण समर्पण करना है वो उसके प्रति हो सकता है जो अज हो उत्पन्न ना हुआ हो वैसे तीन पदार्थ अज हैं परमात्मा भी और हम जीवात्माएं भी हम शरीर तो धारण करते हैं इस रूप में तो हम जन्म लेते हैं लेकिन मूल तत्व हमारा नित्य है और इसी तरह इस कार्य जगत का मूल तत्व तो प्रकृति भी अज है इसलिए उसे अजा कहा जाता है इन तीन अज में एक अज परमात्मा भी है यदि हम अपने को तो नित्य मान लें चेतना को नित्य मान लें लेकिन परमात्मा को नित्य ना माने परमात्मा को अनुत्पन्न ना माने परमात्मा के बाकी सारे गुण उसकी आज्ञाएं हमारे लिए सदा सदा के लिए नहीं रहेंगी और हम उसके प्रति वो समर्पण नहीं ला सकते जो परमात्मा को अज मानने पर ला सकते हैं परमात्मा को अज मानने का मतलब है उसके जितने गुण हैं वो उसके अपने हैं स्वाभाविक हैं किसी के द्वारा दिए हुए नहीं हैं उसने कहीं से प्राप्त नहीं किए हैं उस स्वयं में ऐसा ही है और अज के साथ उसकी नित्यता जुड़ी हुई है उसके समस्त गुणों की नित्यता जुड़ी हुई है समस्त स्वभाव की नित्यता जुड़ी हुई है इसलिए परमात्मा अज है ये उसका स्वरूप होते हुए भी हम उसको संबोधित करते हैं हमारे लिए वो आवश्यक है यदि परमात्मा को शरीर धारण करने वाला मान लिया जाए तो परमात्मा के प्रति हम वो आदर नहीं ले सकते जिसने भी शरीर को धारण किया है हम देखते हैं वो परतंत्र है वो दूसरों के आश्रित है उसे दूसरों का सहयोग लेना ही होता है कितना भी बलवान कितना भी धनवान कितना भी ज्ञानवान हो उसे अन्यों से जान बल धन की सहायता लेनी ही होती है कुछ ना कुछ सहयोग लेना ही होता है पराश्रित होना ही होता है तो परमात्मा को यदि हम शरीर धारण करने वाला अवतार लेने वाला मानेंगे तो परमात्मा के प्रति वो श्रद्धा हम नहीं कर सकते हैं और शास्त्र तो कहते ही हैं परमात्मा अकायम है शरीर रहित है और यदि युक्ति से भी सोचें तो परमात्मा को जन्म लेने की आवश्यकता क्या है यदि हम ये मान लें कि परमात्मा अज है अर्थात नित्य है उत्पन्न नहीं होता जैसे कि हम आत्मा है लेकिन हम अज आत्माएं अनुत्पन्न होते हुए भी शरीर को धारण करती हैं ऐसे ही परमात्मा भी अनुत्पन्न होते हुए भी शरीर को धारण करने वाला हो सकता है ऐसा क्यों ना मान लिया जाए तो बात आएगी कि परमात्मा को जन्म लेने की आवश्यकता क्या है क्यों जन्म लेगा वो हमारे जन्म की व्यवस्था तो परमात्मा के द्वारा की गई है और तदनुरूप इस सृष्टि में जन्म हो रहे हैं परमात्मा के जन्म लेने की धारण करने की व्यवस्था किसने की है किसी और ने अथवा परमात्मा ने स्वयं ने और यदि परमात्मा की व्यवस्था किसी और ने की है तो फिर वो सर्वोत्कृष्ट नहीं है कोई और उच्च शक्ति है जो परमात्मा को भी शरीर धारण के लिए व्यवस्था देती है और यदि परमात्मा ने स्वयं धारण किया है शरीर तो क्यों धारण किया है उसका अपना क्या प्रयोजन है हम अच्छे शब्दों में कहें कि धर्म की स्थापना के लिए बहुत अच्छा प्रयोजन है जैसे कोई मनुष्य धर्म की स्थापना करे बहुत पूजनीय है वो परमात्मा जन्म क्यों लेता है अवतार क्यों लेता है अधर्म के नाश के लिए बहुत बड़ी बात है जो मनुष्य अपना जीवन अधर्म के नाश के लिए लगाता है वो पूजनीय होता है वो सबका हित करता है लेकिन परमात्मा धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए जन्म ले इसकी उसको क्या आवश्यकता है वो जब सर्वशक्तिमान है यदि उसे धर्म की स्थापना इस ढंग से करनी है तो वो वैसे भी कर सकता है अवतारों में धर्म की स्थापना के हेतु और अधर्म के नाश के लिए जो भी स्वरूप बताए जाते हैं कि अच्छा जिनको हम अवतार मानते हैं शरीर धारण किया भगवान ने तो धर्म की स्थापना उन्होंने कैसे की धर्म की स्थापना के लिए आए कैसे की धर्म की स्थापना किसी को उपदेश दिया वो उपदेश तो परमात्मा बिना शरीर धारण किए भी दे सकता है जब वो सर्वव्यापक है अंतकरण में विद्यमान है शरीर धारण करके जैसा हम उपदेश दे सकते हैं उससे अधिक अच्छी तरह उपदेश वो बिना शरीर धारण किए दे सकता है सीधे अंतकरण में बैठा सकता है एकदम से तो जिन्होंने अवतार लिए वो और कैसे धर्म की स्थापना करते हैं अच्छे लोगों की रक्षा करके अच्छे लोगों की रक्षा करनी है तो परमात्मा वैसे भी कर सकता है वैसे परमात्मा ने अच्छे लोगों को इतना श्रेष्ठ बनाया है कि वो स्वयं कर सकते हैं रक्षा अच्छा। और अधर्म का नाश कैसे करा तो दुष्टों का नाश करके तो परमात्मा यदि चाहे तो दुष्टों का वैसे भी नाश कर सकता है वो जब चाहे जिस शरीर से आत्मा को निकाल सकता है उसी ने तो आत्माओं को भेजा है शरीरों में वो ही तो स्थापित करता है जब चाहे वहां से निकाल सकता है और आत्मा के पास में कोई विकल्प नहीं है कि वो अपने को बचा सके इस शरीर से मैं नहीं निकलूंगा परमात्मा निकालना चाहे और मैं नहीं निकलूंगा हो ही नहीं सकता तो परमात्मा के लिए ये कोई कार्य ही नहीं है नगण्य है अगर वो ऐसा करना चाहे लेकिन चूंकि परमात्मा ने मनुष्यों को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है वो न्यायकारी है कर्मफल व्यवस्था बनाई है इसलिए परमात्मा इस रूप में कभी नहीं करता सज्जनों को रक्षा करनी है तो उन्हें स्वयं करनी है ये उनका कर्तव्य है परमात्मा उनको जो सहयोग देता है ज्ञान आदि का वो अलग तरीका है लेकिन अभी कोई सज्जन है तो उसका अपना कर्तव्य वो अपनी रक्षा करे व्यवस्था करे और कोई व्यक्ति यदि दुष्ट है असाधु है लोगों को पीड़ा देता है तो भी परमात्मा आके उसको रोकता नहीं है उसने कर्म की स्वतंत्रता उनको दे रखी है <clears throat> ऐसे में एक तरफ परमात्मा कर्म की स्वतंत्रता दे मनुष्यों को और दूसरी तरफ स्वयं शरीर धारण करके उन्हें इन कर्मों को करने से सीधे सीधे स्वयं रोके ये परमात्मा के लिए तो संगत नहीं लगेगा हाँ परमात्मा ने उपदेश दे रखा है मनुष्यों को कि श्रेष्ठ सज्जनों का सहयोग करें दुष्टों की हानि करें दुष्टों को रोकें ये उसने मनुष्यों को ही अन्यों को दे रखा है उपदेश वो इस कार्य को करते हैं इस रूप में वो तरीका है लेकिन परमात्मा को इन कार्यों के लिए शरीर धारण की आवश्यकता नहीं है तो यदि माना जाए कि परमात्मा धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए शरीर धारण करता है तो वो कैसे धर्म की स्थापना करता है और कैसे अधर्म का नाश करता है उसके जितने रूप हैं वो तो वो वैसे भी कर सकता है ऐसी कौन सी बात थी ऐसा कौन सा तरीका था धर्म की स्थापना करने का जिसको परमात्मा शरीर धारण किए बिना कर नहीं सकता था वैसी कौन सी बात है वो ऐसा कौन सा उपाय था जो शरीर धारण करके ही वो दुष्टों को नाश नष्ट कर सकता था बिना शरीर धारण के नहीं कर सकता था वो ऐसी कौन सी परिस्थिति है वो ऐसा कौन सा दुष्ट है जिसको वो नष्ट नहीं कर सकता तो हमें विचार करने पर खोजने पर कुछ नहीं मिलता परमात्मा को अज हम स्वीकार करें करना होता है परमात्मा की सच्ची भक्ति करनी है परमात्मा को सत्य रूप में स्वीकार करना है तो उसको अज मानना होगा नहीं तो दूसरे गुण उसमें स्वीकार नहीं किए जा सकते अथवा अंतर विरोधों से युक्त होकर हम परमात्मा को मानेंगे ये भी मान लिया वो भी मान लिया विपरीत धर्मों से युक्त मानेंगे जो कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को कभी संगत नहीं लगेगा जागरूक व्यक्ति को कभी संगत नहीं लगेगा और परमात्मा को यदि हम जन्म लेने वाला शरीर धारण करने वाला मानते हैं तो हमारी तरह ही हम उसको परमात्मा को हम हमारी तरह ही बहुत कुछ मानने लग जाएंगे और परमात्मा पे बहुत सारे दोषारोपण करने लग जाएंगे जैसा कि अवतारों पर भी विभिन्न दोषारोपण उन्हीं लोगों ने कर दिए जो उनको भगवान मानते हैं क्योंकि जो इस स्तर पर उतर आया है कि परमात्मा को शरीर धारण करने वाला मान रहा है उसका सोच ही ऐसा है कि वो इसके बिना परमात्मा को कार्य करने वाला स्वीकार नहीं कर पाता इस स्तर पर जो जी रहा है जिसकी समझ ऐसी है तो सहजता से अन्य मनुष्यों में जैसे दोष होते हैं जैसे व्यवहार होते हैं वैसे वो परमात्मा पे भी आरोपित कर देते हैं और परमात्मा को अवतार वाला मानने वाले लोगों ने ही उसके प्रति जितनी निंदा की है गलत आक्षेप लगाए हैं उनको इस ढंग से प्रस्तुत कर दिया कि दूसरे व्यक्ति कहेंगे कि ये अवतार भगवान है तो ऐसे अवतार को भगवान को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है ये हमारे लिए पूज्य आदरणीय नहीं हो सकता तो ईश्वर का सच्चा भक्त तभी व्यक्ति बन सकता है जब परमात्मा को ईश्वर को अज माने अज के रूप में ही परमात्मा की हमें उपासना करनी है आराधना करनी है उसको स्वीकार करना है इसलिए संबोधनों में ये भी संबोधन एक दिया हे अज अजय नहीं मानेंगे तो परमात्मा को मानने मानेंगे ही नहीं या तो विकृत रूप से मानेंगे तो परमात्मा का अस्तित्व भी हमें स्वीकार करना है तो वो अज के रूप में और उसे शुद्ध रूप में स्वीकार करना है तो भी उसे अज हमें मानना होगा तो परमात्मा को अनुत्पन्न शरीर धारण न करने वाला हम स्वीकार करते चले शरीर धारण करने वाला यदि मानने लगेंगे तो एक दोष और आएगा कि हम किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति को देख करके जो हमसे बहुत अच्छा है बहुत ऊंचा है हम उसको भगवान मानने लग जाएंगे कोई इसको मान लेगा कोई उसको मान लेगा क्योंकि उसे ये तो पता नहीं कि ये शरीर धारण किया है वो कौन सा भगवान ने शरीर धारण किया है और कौन सा बिना भगवान ने धारण किया है तो तो जो जो भी श्रेष्ठ दिखाई देगा जो जो भी जिस जिसके प्रति वो नतमस्तक होगा उस सबको वो भगवान मानने लग जाएगा पर ऐसा हो रहा है बहुत सारे भगवान हो गए हैं तो सच्ची भक्ति के लिए परमात्मा को हम अच रूप में ही देखें शरीर धारण किए हुए किसी व्यक्ति को ईश्वर या भगवान कभी ना माने वो श्रेष्ठ हैं उनको श्रेष्ठ माने उनके प्रति आदर रखें लेकिन उनको भगवान कभी ना माने ये भावना मन में रखते हुए प्रभु का स्मरण ओम का उच्चारण ओ